Good night. जब सिर पर दिखता है ज्ञान से दिखता है इंद्रियों से नहीं दिखता और ये वेदों और दर्शनों के आधार पर सोचिए आप ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्रत्यक्ष कर सकेंगे इसमें कोई बाधा नहीं है अब आप मौन रहिए और ये एकत्रिंशत्तमाध्याय अष्टम मंत्र पठिष्य व्याख्या से यजुर्वेद तैतीसवें अध्याय का आठवां मंत्र पढ़ा जाएगा और उसकी व्याख्या की जाएगी ओम तस्मादश्वा अजायंत एक चो भया मंत्रों में प्रकरण विषय ईश्वर का उपस्थित है ईश्वर की चर्चा ईश्वर का स्वरूप ईश्वर के कार्य ईश्वर का और हमारा संबंध कैसे हो ये बताया जा रहा है इस मंत्र में विविध पशुओं की रचना गौ बकरी भेड़ ऊंट आदि इनकी रचना ईश्वर ने की है ये बताया गया है जब हम समझते हैं कि इनकी रचना ईश्वर ने की है तो ईश्वर का कोई प्रयोजन होगा ईश्वर का उद्देश्य होगा विचार करके बुद्धि से हम उन पशुओं को देखते हैं उन पशुओं के अंदर विशेषताएं देखते हैं उनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती और उन उन पशुओं से हम वो काम लेते हैं आपने कभी घोड़े की रचना देखी हो और बैल की ये जो फसलियां होती हैं ये घोड़े की और बैल की बराबर होती हैं न्यूनाधिक होती है वैसे नहीं बोलना जानकारी हो तो हाँ नहीं तो चुप रहे अच्छा घोड़े की पीठ और बैल की पीठ बराबर होती है कुछ अंतर होता है क्या अंतर होता है एक तो मूढ़ा थोड़ा अंतर होना दूसरी तो बात है घोड़े की पीठ में जितनी शक्ति मजबूती है उतनी बैल की पीठ में नहीं है क्या समझ में आया एक तो आकृति और एक उसकी शक्ति दोनों अंतर है ना आकृति रचना अन्यथा फिर रचना के साथ साथ उसके उस भाग में कितनी शक्ति होती है उस पशु की घोड़े की पीठ में ये कमर में जितनी शक्ति होती है ना बैल की नहीं होती क्या समझे आप तो इनकी रचना गधे के पतले पतले पैर होते हैं आपने देखे अच्छा मजबूत कितने होते हैं पहाड़ों पर जहां कोई भी शक्ति नहीं काम करती खच्चर और ये गधे वो पहाड़ों पर बोरी की बोरी ले जाएंगे वहीं न गिरेंगे न लुटकेंगे इतने दृढ़ और इतने मजबूत है वैसे नहीं कर सकते इस काम को कैसी विचित्र विचित्र रचना देखते हैं भेड़ है तो वैसे तो बहुत मूर्ख है पर इसकी रचना आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो ऊन है कितनी मूल्यवान है और वर्ष भर में लगभग दो बार उतार लेते हैं लोग उसको और फिर उसके ये अच्छे से अच्छे कंबल बनाते हैं और वो घास खाती है तो हमारे उपयोग में आ गया उनको घास खाने को मिल गया हमारे पास से कुछ नहीं लगा तो कुछ लोग शंका करते हैं ये भगवान ने भेड़ क्यों बनाई गधे क्यों बनाए घोड़े क्यों बनाए तो इसका उत्तर यह है कि इसमें दो प्रयोजन रहते हैं एक तो इन जीवों ने बुरे कर्म किए थे पशु योनि में रहते पाप का फल भोगेंगे और पाप का फल भोगते हुए भी मनुष्य के काम के होंगे आपको क्या समझ आया पाप का फल भोगते हुए भी मनुष्यों के लिए उपयोगी भी होंगे अगली बात ये भी याद रखना परमात्मा दयालु है चोरी आदि दुष्ट कर्म करते करते मनुष्य शरीर में इसकी आदतें बिगड़ जाती है उसको पशु जन्म देके उसके संस्कारों को खत्म करता है क्या समझ में आया पशु जन्म में ये विकास चोरी डाके इतने चालाकी ये नहीं हो पाता कभी बहुत कम मात्रा में प्रवृत्तियां रहती हैं वो धीरे धीरे धीरे धीरे मार खा खा करके खा खा करके वो दुष्ट प्रवृत्तियां की जो जाला की वो संस्कार कुचले जाते दब जाते मर जाते दूसरे पक्ष में सोचिए आप आप अपने ढंग से दूसरे लोग भी सोचते हैं उनकी सोची हुई बातों को भी तुलनात्मक अध्ययन में लाइए कारण मीमांसा दर्शन में प्रकरण आया उसमें कहा अथा तो धर्म व्याख्या श्याम है क्या पाठ है अथा तो धर्म जिज्ञासा ये पाठ है ना हाँ अथा तो धर्म जिज्ञासा मीमांसा का यह है और वैशेषिक का यह है अथा तो धर्म व्याख्या से हम धर्म की व्याख्या करेंगे इस अपने ग्रंथ में उसमें भी यही है कि हम विचार पूर्वक बुद्धिपूर्वक धर्म का निर्णय करें तो उसके भाष्यकार हैं शबर स्वामी इसके रचयिता है मुख्य ऋषि जैमिनी बहुत बड़ा ग्रंथ है अकेला इतना बड़ा है पांचों दर्शनों को एक पलड़े में रखो और अकेले मीमांसा को एक में तब भी लगभग छह सौ या कितने सूत्र अधिक है इतना बड़ा इतना बुद्धिमान होगा वो व्यक्ति कितना उसने सोचा होगा इतना बड़ा ग्रंथ बनाया होगा इतने ग्रंथों के साथ आबद्ध है संबद्ध है आश्चर्य की बात उसके भाष्यकार ने चर्चा उठाई कह रहे थे कि यदि धर्म जाना हुआ है तो उसकी क्या विचारणा करेंगे तो जाना हुआ ही है और धर्म नहीं है कोई चीज धर्म नाम की चीज ही नहीं है कोई कोई धर्म है ही नहीं उसका भी क्या विचार करोगे उसने कहा सुनो जब धर्म की चर्चा करते हैं धर्म के नाम से विविध कल्पनाएं चलती है धर्म के नाम से कोई कुछ मानता है धर्म के नाम से कोई कुछ मानता है बीस पचास साठ धर्म और सब सारे धर्म समान है ये भी कहते जाते हैं अब बड़ी बिना सिर पैर की बात है सारे धर्म कौन से हैं वो अब करोड़ों लोगों के दिमाग में ये बात नहीं बैठती कि सारे धर्म हैं या नहीं आप क्या मानते हैं सारे धर्म है क्या तो ये बिना सर पैर की बात चलती है सारे धर्म है ही नहीं सारे बहुवचन है धर्म एक ही है दो है ही नहीं एक ही था एक ही है और एक ही रहेगा और उस ओर से चलिए ईश्वर का जो आदेश है वेदों में जो उपदेश है वह एक ही है और वो ईश्वर का आदेश ही धर्म है दूसरा कोई धर्म नहीं उसको दूसरे शब्दों में कहेंगे आप जिस ज्ञान विज्ञान से जिस आचरण से जिस उपासना पद्धति से अपना और दूसरों का लौकिक सुख बढ़ता है और मोक्ष का सुख भी मिलता है उसका नाम धर्म और एक जैसा सबके तो उसने कहा इसलिए धर्म का विचार करने बैठा है ऋषि धर्म के नाम से पता नहीं कितनी चीजें लोग उठाते हैं अनर्थ होते हैं कहीं झगड़े होते हैं ये सारे के सारे झगड़े ईश्वर के नाम से धर्म के नाम से इसलिए है ईश्वर को ठीक नहीं समझा जा रहा धर्म को ठीक नहीं समझा जा रहा नहीं झगड़े का प्रश्न ही नहीं उठता धर्म झगड़ों को समाप्त करता है समझाया जाता है धर्म झगड़े को पैदा करता है आश्चर्य की बात है धर्म निर्धारित धर्म विशुद्ध धर्म सारे झगड़े को समाप्त करता है चरित्रवान बनाता है व्यक्ति को संगठन उत्पन्न करता है सबको एक पंक्ति में खड़ा कर देता है जितनी बुराइयां सबको उखाड़ के फेंक देता है ये मनु ने एक वाक्य पढ़ा धर्मो ही हतो हंती धर्मो रक्षित ही रक्षित है धर्मो ही हतो हंसी मारा हुआ धर्म विपरीत आचरण में लाया हुआ अधर्म किया हुआ धर्म का उल्लंघन किया हुआ मार देता है धर्मो ही हतो हंसी रक्षित ही रक्षित है रक्षित किया हुआ धर्म सबकी रक्षा करता है बच्चों बैठो खेल रहा हो तो घर जाओ गौशाला के आप बच्चों को शिक्षा देना सीख लो नहीं आते तो हम आपको दस दिन का शिक्षण शिविर लगाएंगे बच्चे को शिकाया कैसे जाता उसको सीख लो है किसी की इच्छा आपको सिखाएंगे कि बच्चे को कैसे सिखाया जाता है बच्चे के लिए क्या क्या चीजें उपयोगी है और बच्चे की आदतें कैसी होती है उनको कैसे पकड़ा जाता है और वो बिगड़ता कैसे है और सुधरता कैसे है ये सैकड़ों बातें सीखनी हो तो सीख लो ये कह रहा हो कि स्वामी जी आप गृहस्थ में तो गए नहीं आपको क्या पता है तो ठीक है पड़े रहो आप वहीं रहो जाओ ठीक है पड़े रहो बिगाड़ते रहो एक एक को बिगाड़ बिगाड़ के राष्ट्रपति तक पहुंचाते एक आगे बिगाड़ बिगाड़ के बिगाड़ बिगाड़ के बच्चे पैदा कर रहे बिगाड़ते जाते हैं आगे भेजते जाते हैं यातायात चल रहा है एक से एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति जिस भी भाग में जाओ बड़े से बिना बिगड़ा हुआ व्यक्ति सौ में एक आदमी को छोड़ दो प्राय बिगड़ा हुआ वर्ग मानव जाति बिल्कुल बिगड़े तो इन बच्चों को भी सिखाया जाता है ये जो पांच वर्ष के बच्चे हैं ना इनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है यहां के चुप बैठेंगे कुछ नहीं करेंगे जब कहेंगे आप खेल लो खेल लेंगे जब कहेंगे बैठ जाओ बैठ जाएंगे पांच वर्ष का बच्चा हो नहीं सकता वो और ये तो ये कह के पीछा छुड़ा दिया कि बच्चे हैं मानते नहीं बच्चों की आदत बिगड़ गई बच्चे कहना ही नहीं मानते बारह बजे टेलीविजन चलाते आते हैं क्या करें अब क्या करें क्या करो एक रेडा ले लो और उसमें बोरी डाला करो मिट्टी की ना कीचड़ हो ऐसा वहां डालते रहो गधे का काम करो मनुष्य बनाने तो आते नहीं तो पशु का काम करो फिर भाई पुलिस का काम तो कर नहीं सकते आप तो एक चर्चा की मैंने कहा कि आप ध्यान लेंगे वैदिक परंपरा में ये समाधान हुआ अब जब किसी ने पूछा एक व्यक्ति से कि भाई ये भगवान ने गऊ क्यों बना दी आप कहते कहीं गऊ बना दी कहीं पशु हम तो कहते हैं कि बुरे कर्म किए थे आत्मा वही है वही आत्मा मनुष्य बनता है वही मरने के पीछे बुरे कर्म करता है तो गधा घोड़ा बनता है बुरे कर्म भोग के फिर लौट के फिर वही मनुष्य बन जाता है कुछ लोग ऐसा मानते हैं नहीं ऐसा नहीं है जीवों का वर्गीकरण ऐसा है ये हम जो जीव आत्माएं हैं ये अलग प्रकार के हैं क्या समझे आप अलग प्रकार मनुष्य शरीरधारी आत्माएं बिल्कुल अलग प्रकार के हैं और जो पशु बनने वाले जो प्राणी है वो बिल्कुल अलग प्रकार के आत्मा है वो कभी लौट तो के मनुष्य नहीं बनते वो सदा पशु पशु ही बनते बड़ी विचित्र मान्यता है तो मैंने पूछा भाई ये बताओ ये मनुष्य मनुष्य ही बनता रहता है सदा और गौ गौ ही बनती रहती है वो कहता ठीक है बिल्कुल वो भाव की आत्माएं अलग है और उनको गौ ही बनाया जाता है मैंने कहा बिना कारण की उनको गौ क्यों बनाया जाता है गधा क्यों बनाया जाता है वो आभारी रोते रहे तो वो कहने लगे यदि गऊ ना बनाए भगवान तो हमको दूध कहां से मिले समझा उनको गऊ इसलिए बनाता है कि हमको दूध मिलेगा कर्मों के अनुसार नहीं हमने तो समाधान किया कि उसको गौ इसलिए बनाया है वो कर्मों का फल भोगेगा आत्मा और हमको दूध पिलाएगा भेड़ हमको ऊन देगी और घास खाएगी और दूध का जहां उसका उपयोग वो दवाई के रूप में वो होगा हम तो ये कहते हैं वो कहते नहीं उसको गऊ को इसलिए बनाया कि हमको दूध मिलेगा मनुष्यों को मैंने कहा उसने जो बुरा कर्म ही नहीं किया तो उसको गौ क्यों बना के खड़ा कर दिया वो उत्तर नहीं है बिना सिर पैर का सौदा जाता बिना सिर पैर की बात धर्म के नाम से ईश्वर के नाम से कितना ऊट पटांग है भारत का सत्यानाश हो गया झूठे धर्म के नाम से भारत अधोगति में जाता है झूठे ईश्वर के नाम से और नास्तिक लोग गद्दी पर आते हैं और जो नास्तिक है वो गद्दी पर बैठेगा आस्तिक है वो गद्दी पर बैठ नहीं सकता ये अनर्थ हो रहे इसलिए समय के अनुसार यहां विराम दिया जाता है हम इन बातों को समझें और अपने जीवन में तन मन से परिश्रम पुरुषार्थ करें और अपने जीवन को बदले परिवर्तित करें समाज के ढांचे को बदले राष्ट्र ईश्वर ने हम देगा पुरुषार्थ करो सोचने का ढंग बदल दो ये भी परंपरा याद रखिए आजकल जो खान पान इतना अशुद्ध हुआ है मांस अंडे शराब इससे कोई इससे घृणा नहीं है किंतु छोटे से छोटे बच्चों को अंडे खिलाए जाते हैं मांस खिलाया जाता है वो उसके बिना रह नहीं सकते ये लोगों में आदतें डाल दी गई है और आगे बढ़ रही है जितनी जितनी ये लोगों की स्थिति बदलती जाएगी आहार खराब होता जाएगा भोजन खराब होता जाएगा अन्यायकारी बनते जाएंगे लोग पशुओं के साथ अन्याय करेंगे और पशुओं के साथ फिर मनुष्यों के साथ भी अब भी कोई कम अन्याय नहीं हो रहा है और आगे अन्याय बढ़ जाएगा खान पान से दूषित खान पान से व्यक्ति का चरित्र गिरता है उसके विचार गिरते हैं दयाहीन हो जाता है पशुओं के साथ वो दुर्व्यवहार करता है इन बातों को हम जाने और पशुओं मनुष्यों के साथ धर्म का व्यवहार करें ओम शांति हम पढ़ने के लिए बैठते हैं और ऐसा चित्त करके बैठते हैं कि पढ़ते हैं एक चित्त करके पढ़ते हैं तो पड़ोसी के घर में से हिंदी फिल्म की आवाज आती तो हमारा ध्यान पढ़ने में केंद्रित नहीं होता लेकिन उस आवाज की तरफ जाता है ठीक बात है किसी विद्यार्थी ने प्रश्न किया है अच्छी बात है उसकी समस्या यही है कि हम तैयारी करके बैठते हैं कि पढ़ेंगे पर फिर भी आवाज आती है फिल्म की आवाज आती है तो मन उधर चला जाता है तो कारण यही है कि जिस चीज में हमारी रुचि अधिक होती है उस और मन खींचा चला जाता है उस चीज को हमने अब तक सुन सुनकर देख देख कर उससे जो सुख प्राप्त किया है वो सुख के संस्कार हमारे चित्त पर मन पर अंकित हो जाते हैं वो सुख के संस्कार हमको उस सुख की पुनः प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं फिर से धक्का लगाते हैं भाई वो सुख फिर से मिलना चाहिए तो पढ़ाई के अंदर हमने जो सुख प्राप्त किया है वो सुख है कम और फिल्में देखकर चित्रहार देखकर और दूसरे नाटक सीरियल वगैरह देखकर जो सुख प्राप्त किया है वो है अधिक तो जो सीरियल फिल्म आदि के जो सुख के जो संस्कार हैं वो बलवान हैं अब उधर पढ़ाई के संस्कार और इधर फिल्मों के संस्कार जब आपस में इनका युद्ध होता है तो सीधी सी बात है जो संस्कार बलवान होंगे वो जीत जाएंगे तो फिल्मों का जो सुख हमने भोगा है वो संस्कार मजबूत हैं बलवान हैं इसलिए वो जीत जाते हैं और हमारे मन को खींचकर उधर ले जाते हैं तो हमको करना ये पड़ेगा कि फिल्म देखने से चित्रार देखने से सीरियल देखने से जो हानियां होती हैं उस पर बार बार विचार करना पड़ेगा कि भाई फिल्म देखेंगे चित्रार देखेंगे इससे हानियां क्या होंगी और पढ़ाई करेंगे इससे लाभ क्या होगा ऐसी तुलना हमको करनी पड़ेगी ऐसा तुलनात्मक अध्ययन करने से फिल्म देखने से जब हानियां सामने नजर आएंगी तो उसकी और रुचि घट जाएगी कोई भी व्यक्ति अपनी हानि करना नहीं चाहता इस सिद्धांत के आधार पर फिल्म देखने में रुचि कम हो जाएगी और पढ़ाई के जब लाभ सामने आएंगे तो उस और रुचि बढ़ेगी तो वो संस्कार मजबूत हो जाएंगे और फिर जब आपस में युद्ध होगा तो हम पढ़ाई वाले संस्कारों को बलवान बनाकर उस समस्या का हल कर लेंगे उधर जीत जाएंगे मन को पढ़ाई में एकाग्र कर सकेंगे और मोटे उपाय भी हैं कि जब फिल्म की आवाज आती हो तो अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाए इससे आवाज घट जाती है अथवा दूर जाकर बैठे जहां पर आवाज न पहुंचे अथवा छत पर कमरे में चले जाए जिससे कि उस आवाज से भी बचना चाहिए ये मोटा उपाय भी है पर मुख्य उपाय यह है उसकी हानियां जानना और पढ़ाई के लाभ जानना ये अधिक कारगर उपाय है आगे शंका लिखी है क्या अच्छा है संसार में रहकर ज्ञान प्राप्त करना या संसार छोड़कर प्रश्न आप समझ गए होंगे संसार में रहकर ज्ञान प्राप्त करना अच्छा है या संसार को छोड़कर तो उत्तर यह है कि ज्ञान कई प्रकार का है कुछ प्रकार का ज्ञान संसार में रहकर प्राप्त होता है और कुछ प्रकार का ज्ञान होता है वो संसार छोड़कर ही प्राप्त होता है तो दोनों प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है कुछ संसार का व्यवहारिक ज्ञान भी हमको आवश्यक चाहिए लोगों से व्यवहार कैसे करें समाज में रहें कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर संगठन में कैसे चलें एक दूसरे को सहयोग कैसे दें दो व्यक्तियों के विचार नहीं मिलते तो उन विचारों का समाधान कैसे करें ये संसार में रहकर व्यक्ति सीख सकता है जब तक किसी के साथ मिलकर नहीं रहता उसके विचारों से अपने विचार मिलाता नहीं उसके मतभेदों से उसके मतभेदों को सहन नहीं करता तब तक उसकी व्यवहारिक उन्नति नहीं होती जब तक वो अहिंसा सत्य का पालन नहीं करता तब तक उसको व्यवहार का ज्ञान ही नहीं होता इसलिए ये तो संसार में रहकर सीखना पड़ता है और जो संसार को छोड़कर ज्ञान प्राप्त होता है वो है विशेष रूप से आगे ध्यान उपासना का जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हो उसको फिर नगरों से दूर जंगलों में गुरुकुलों में आश्रमों में ऐसे स्थानों पर जाकर के योगाभ्यास करना पड़ता है ये योग विद्या का ज्ञान उसको संसार से दूर रह करके ही प्राप्त होता है तो दोनों ही आवश्यक हैं व्यवहार का ज्ञान भी चाहिए और ईश्वर भक्ति ध्यान उपासना का भी चाहिए तो दोनों ही क्षेत्रों में हमको जैसी सुविधा हो वैसा वैसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए आगे शंका लिखी है क्या सत्य है हमारे घर गांव राज्य या देश की जो गुप्त माहिती है वह दुश्मन को दे देना या झूठ बोलकर नहीं देना इसमें से दोनों में से कौन सा ठीक है हाँ जी तो हमारी समझ में तो दोनों ही गलत है अपने देश की गुप्त वार्ताओं को गुप्त स्थितियों को दुश्मन को देना नहीं चाहिए दे देना भी गलत है और झूठ बोलना भी गलत है उसको बिल्कुल नहीं देना चाहिए न झूठ बोलना चाहिए या तो चुप रहना चाहिए और यह कहना चाहिए कि हम जानते हैं और नहीं बताएंगे तुमको जो करना है सो कर लो झूठ भी नहीं बोलना चाहिए और बताना भी नहीं चाहिए हम नहीं बताते कोई जरूरी थोड़ी है कोई व्यक्ति आपके घर में आए आप पूछे बताओ तुम्हारे यहां धन संपत्ति कितनी आप बताओ नहीं बताएंगे ना भाई हमारी कितनी संपत्ति हम नहीं बताते हमारी प्राइवेसी है हमारी गुप्त चर्चा हम क्यों बताएं अपने घर की बात कि तुम्हारे घर में किस किस का झगड़ा होता है हम क्यों बताएं हम नहीं बताते हाँ कोई सन्यासी हो विद्वान हो वो पूछे उसको तो बताना चाहिए वो तो कोई समाधान बताएगा आपको कि भाई घर में झगड़ा होता है क्यों होता है कोई समाधान बताएगा आपको लाभ होगा एक व्यक्ति दुरुपयोग करने वाला आके पूछे तुम्हारे घर में कितनी संपत्ति है तुम कौन कौन व्यक्ति झगड़ते हो कैसे कैसे झगड़ते हो वो तो दुरुपयोग करेगा उसको नहीं बताएंगे आगे शंका है गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है मैं अजन्मा अनादि निर्विकार निरंजन हूं ये सत्य बोला या झूठ हम आपकी राय जानना चाहते हैं तो उत्तर यह है कल भी बतलाया था कि श्री कृष्ण जी महाराज ईश्वर नहीं हो सकते सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है क्योंकि जब ईश्वर शरीर में आ जाएगा तो उसको भूख प्यास गर्मी सर्दी अविद्या राग द्वेष मान अपमान आदि आदि दोष ये सब लगेंगे कभी बुखार भी आएगा ताव भी आएगा कभी गर्मी ठंडी भी भोगनी पड़ेगी पर वे कहता है ईश्वर कभी भी दुखी नहीं होता और योग दर्शन भी कहता है क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर कि ईश्वर कभी भी क्लेशों से युक्त नहीं होता और जो शरीर में आएगा वो क्लेश से रहित हुए बिना रह ही नहीं सकता इसलिए ईश्वर का स्वरूप निराकार निरंजन आदि आदि ही है श्री कृष्ण जी महाराज निराकार नहीं थे शरीरधारी थे इसलिए वो ईश्वर नहीं थे और गीता में जो ये लिखा है कृष्ण जी महाराज के नाम से कि मैं निराकार निरंजन आदि आदि हूं वो बात लोगों की मिलाई हुई है या तो ये अर्थ करो हाँ या तो यूं भी कर सकते हैं या तो ये व्याख्या करनी पड़ेगी भाई ईश्वर ऐसा है अगर ये अर्थ करते हैं कि मैं ऐसा हूं और मैं ईश्वर हूं वो तो गलत है वो तो वेद से विरुद्ध पड़ता है अच्छा जी आगे एक शंका है मम गुण गावत पुलकम शरीर पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह नीरा कामादि मद दम्भ न जाके तात निरंतर वश में ताके इस चौपाई को हम बोलते हैं इस चौपाई को राम बोलते हैं इनसे हमें लगता है कि वे भगवान हैं आपकी क्या राय है जो ईश्वर नहीं है तो उनका बोलने का क्या आशय लगता है तो इसका भी वही उत्तर है श्री संत तुलसीदास जी ने ये जो दोहा चौपाई आदि लिखी है उनकी रामायण को देखने से रामचरित मानस को देखने से ऐसा लगता है कि उन्होंने जगह जगह पर रामचंद्र जी महाराज को भगवान बना करके प्रस्तुत किया जैसे कि वो सृष्टिकर्ता ईश्वर थे पर वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता और वेद से विरुद्ध होने के कारण ये बात सत्य नहीं हो सकती कि श्री रामचंद्र जी महाराज भगवान का अवतार थे वही बात श्री कृष्ण जी की है वही श्री रामचंद्र जी की एक ही बात ये केवल कवि की कल्पना है संत तुलसीदास जी की कल्पना है कि उन्होंने उसको भगवान के रूप में प्रस्तुत कर दिया वास्तव में वो ईश्वर या भगवान नहीं थे और आगे लिखा है उत्तर काशी में हजारों लोग भूकंप से मर गए ये उनके कर्मों का फल है ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि पूर्व जन्म के किसी कर्म का फल हो ऐसा तो हम नहीं कह सकते फिर भी ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है साधन दिए हैं और सारी सृष्टि और वेद का ज्ञान विज्ञान दिया है अब मनुष्य का ये कर्तव्य हो जाता है कि कहां पर क्या घटना होगी वो संसार की परिस्थितियों को जाने और अपने पुरुषार्थ से मृत्यु से बचने का प्रयत्न करें यदि वो इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं करता आलस्य प्रमाद करता है सामने की सड़क पर अगर सामने ट्रक आ रहा हो खटारा जिसको बोलते हैं गुजरात में खटारा आता हो और वो खड़ा ही रहे तो क्या परिणाम होगा फिर तो मारा ही जाएगा उसकी अपनी भूल है भाई क्यों खड़े हो जब सामने देखता है घटा रहा है तो बचो तो उसका कर्तव्य है सड़क पर आंख खोलकर चलना सामने से गाड़ी आती हो तो उससे बचना तो जैसे सामने से आती हुई गाड़ी को देखना जानना उसका कर्तव्य होता है ऐसे ही पृथ्वी आदि भूतों में कहां क्या परिवर्तन होने वाला है कहां भूकंप आएगा कहां तूफान आएगा कहां अकाल पड़ेगा उसको जानना भी हमारा कर्तव्य है यदि हम उसको जानने का प्रयत्न नहीं करते तो वो हमारी भूल है इस रूप में तो हम कर्म का फल आंशिक रूप में कहें तो हो सकता है बाकी किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल हो और कितने लोग एक साथ उस भूकंप या अकाल में मारे जाए ऐसा हमको ठीक समझ में नहीं आता आगे प्रश्न है रामकृष्ण आदि देवता थे या साधारण मनुष्य थे रामचंद्र जी भी स्वीकार करते थे या यह सब मिथ्या है तो रामचंद्र जी महाराज का कृष्ण जी महाराज का वर्णन आपको मैंने सुनाई दिया ये लोग महापुरुष थे हम और आप में से ही कोई व्यक्ति परिश्रम करके पुरुषार्थ करके महापुरुष बनता है और एक जन्म में नहीं बनता कई जन्म तक उसको तपस्या करनी पड़ती है और उसकी सारी ये तपस्या संपत्ति इकट्ठी होती रहती है और बढ़ते बढ़ते वो महापुरुष हो जाता है कोई ईश्वर मुक्ति में से बीच में किन्हीं विशेष आत्माओं को भेजता हो ऐसी बात नहीं वेदांत में और उपनिषदों में ये बिल्कुल साफ साफ लिखा है एक बार मोक्ष हो जाने के बाद जब तक उसका समय पूरा नहीं हो जाएगा बीच में कोई मोक्ष से लौटकर आने वाला नहीं न जब पुनरावर्तते न जब पुनरावर्तते छांदोग्य उपनिषद का अंतिम वाक्य है और वेदांत दर्शन में भी ऐसे वाक्य उपलब्ध होते तो रामचंद्र जी महाराज आदि आदि सब महापुरुष थे मेहनत कर करके वो वहां तक पहुंचे थे जितने भी महापुरुष होते हैं इसी प्रकार से पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते हैं रही बात यह कि जो शिकार की बात आई है वो सोने के हिरण का शिकार करने गए थे ये बात ठीक नहीं है वो वेदों के विद्वान थे रामचंद्र जी महाराज उन्होंने वेद पढ़े थे और हिंसा आदि को वो सब दूषित मानते थे दोष मानते थे हिंसा नहीं करते थे जहां तक मैंने राम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया है बहुत दिन हो गए मुझे अब इस समय तो मैंने याद नहीं है पर जितना याद है उसके आधार पर मुझे ऐसा ध्यान आता है कि सीता जी ने उस हिरण स्वाहा भी मंत्र के भाव को कवि ने कविता के रूप में मांगा है ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना गायन के माध्यम से भी की जाती है गायत्री मंत्र की कविता विश्व रूप में राम हर की धाम तरफ चढ़ाएंगे ओम स्वाहा तत्सवी दुर्वरियम भर्गू